और सीधा रास्ता दिखाने की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है और बहुत से रास्ते टेढ़े हैं और अगर वो चाहता तो तुम सबको सीधे रास्ते पर पहुंचा भी देता